विक्रांत ने फिर अमित की तरफ देखकर आंख मारते हुए इशारा कर दिया अमित तुरंत विक्रांत की मंशा समझ गया उसने तुरंत सावधान खड़े होते हुए विक्रांत को सैल्यूट किया सर आपने जिस केस की रिपोर्ट मांगी थी वो तैयार हो चुकी है मैं आपको जल्द ही रिपोर्ट सेंड कर दूंगा तो मैं अभी आ, मैं चलता हूँ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी इतना कहकर अमित फटाफट यहाँ से जाने के लिए मुड़ गया अरे रुको मोमोज खा लो फिर जाना विक्रांत ने अमित को रोकने का दिखावा किया नहीं नहीं सर मुझे मुझे अर्जेंट काम है अमित तुरंत जाने लगा अच्छा आंटी जा रहा हूँ नमस्ते अमित के बाहर जाते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली हे भगवान आज पता नहीं क्या करने वाले हो मेरे साथ बेटा पहले तो वो तुझे अरेस्ट करने के लिए कह रहा था फिर वो तुझे रिपोर्ट देने की बात करने लग गया माँ ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया <laughs> अरे वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता मजाक कर रहा था अच्छा तेरा प्रमोशन हो गया है क्या वो पुलिस वाला तुझे सर सर कह रहा था हम्म प्रमोशन तो हो गया विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अच्छा है फिर तो तेरे पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे माँ की ये बात सुनकर विक्रांत का दिल भी खुशी से भर उठा नैना भी उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन रही थी लेकिन उसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो अच्छा माँ आज ये मोमोज खाने को मिलेगा या नहीं विक्रांत ने कहा अब तक उसे काफी भूख लग रही थी हाँ हो गया बस थोड़ी देर और माँ ने स्टोव पर मोमोज को पकाने के लिए बर्तन को रखते हुए कहा भूखा है भूख लग रही है उसे नैना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया वो मुस्कुराते हुए मोमोज को अपने हाथों से बनाई जा रही थी अब जाकर यहाँ का माहौल ठीक हो रहा था विक्रांत चैन की सांस ले रहा था तभी उसके फोन पर मैसेज आने का बीप हुआ ये मैसेज बैंक की तरफ से आया हुआ था मैसेज देखकर विक्रांत फिर से अवाक रह गए दरअसल जिया ने उसके बैंक अकाउंट में आठ हजार रूपए भेजे थे विक्रांत ने फटाफट मैसेज पढ़ के इसे डिलीट कर दिया मनी मन वो शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ जिया ने पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए वरना अगर वो घर पैसे देने आ जाती फिर तो आज विक्रांत सुसाइड ही कर लेता माँ ने विक्रांत के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा विक्रांत जब तक ये मोमोज तैयार हो रहा है तब तक तुम तरबूज काट लो नैना बेचारी गर्मी में परेशान हो गई है उसको तरबूज खिलाओ काट के हाँ मैं काटता हूँ विक्रांत को फाइनली अब कुछ करने को मोला वो तुरंत ही तरबूज काटने में लग गया तकरीबन 20 मिनट के बाद ये तीनों लोग डाइनिंग टेबल पर मोमोज का आनंद लेने के लिए बैठे फाइनली मोस्ट अवेटेड मोमोज तैयार हो चुका था अब तक विक्रांत तरबूज भी काटकर उसे प्लेट में सजा चुका था तीनों लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोमोज का स्वाद ले रहे थे इसी बीच माँ नैना को विक्रांत के बचपन के कष्टे बता रही थी और नैना ठा के मार कर हंसे जा रही थी विक्रांत भी कभी जोर जोर से हंस पड़ता तो कभी शर्म से लाल होकर रह जाता लेकिन कुछ भी हो परिवार के साथ बैठकर इस तरह गप मारते हुए खाना खाने का मजा ही कुछ और है विक्रांत ना जाने कब से इस मजे के लिए तरस रहा था आज नैना और माँ के साथ खाना खाते हुए वो बहुत खुश था वरना रोज तो वो किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाता था माँ ने मोमोज बहुत टेस्टी बनाए थे विक्रांत को अपने बचपन की याद आ गई जब माँ रोज कुछ ना कुछ नया बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती थी इस वक्त विक्रांत को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नैना की माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी वो माँ के साथ हंस रही थी बोल रही थी और उसके साथ काम में भी हाथ बटा रही थी कहीं न कहीं विक्रांत अब नैना में अपनी पत्नी का रूप देख रहा था मनी मन वो सोच रहा था कि अगर सच में नैना से मेरी शादी हो जाती है तो कितना अच्छा रहेगा माँ को बहुत पसंद है वो और वो भी माँ के साथ कितना खुश रहती है विक्रांत ने मनी मन ये निश्चय कर लिया था कि अब कैसे भी करके नैना को ही इस घर की बहू बनाना है लंच करने के बाद नैना ने माँ के साथ मिलकर किचन में बर्तन धुलवाए और फिर उसके बाद विक्रांत ने माँ को अर्जेंट काम का बहाना बताते हुए जाने के लिए कहा घर से निकलते वक्त माँ ने नैना का हाथ पकड़ कहा बेटा तुम टेंशन मत लेना अगर कुछ भी हो और तुम्हें ये परेशान करे तो फिर मुझे बस एक कॉल कर देना मैं ऐसे थप्पड़ लगाकर ठीक कर दूंगी और हाँ तुम दोनों थोड़ा ज्यादा रिस्क मत लिया करो दुनिया भर के सारे मुजरिमों को पकड़ने का ठेका ले रखा है क्या माँ ने विक्रांत के साथ ही नैना को भी सावधानी से काम करने की हिदायत दी इसके बाद विक्रांत और नैना घर से बाहर जाने के लिए निकल गए <laughs> विक्रांत हाँ। अब रोड पर चलते वक्त नैना जोर जोर से हंसे जा रही थी हंसने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी विक्रांत को हंसी तो नहीं नहीं आ रही थी लेकिन नैना को हंसता देख वो भी हल्का हल्का हंसे जा रहा था विक्रांत आंटी ने मुझे अपना फोन नंबर दिया है अब अगर तुम कुछ भी इधर उधर काम करोगे तो मैं तुरंत उन्हें फोन कर दूंगी हाँ हाँ अब मजा आएगा विक्रांत भी हंस पड़ा नैना कुछ देर तक माँ की बातें याद करके हंसे जा रही थी लेकिन फिर अचानक से उसने विक्रांत को पकड़कर गली की दीवार से सटा दिया और फिर उसके गर्दन पर अपना हाथ टिका दिया क्या हुआ पागल हो गई हो छोड़ो विक्रांत किसी तरह से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा तुम तो मुझे बेवकूफ समझते हो क्या नैना ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा क्या छुपा रहे हो मुझसे बताओ पहले वो लड़की कुत्ते का खाना लेने आई फिर दूसरी लड़की कुत्ता ही लेकर चली गई और फिर तुमने मेरे ही आदमी को अपने सीक्रेट काम में लगा रखा है अमित कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा था बताओ मुझे क्या बात कर रही हो तुम नैना मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है समंदर की जितनी गहराई उससे ज्यादा गहरा मेरा प्यार है और मरते दम तक ये प्यार रहेगा नैना ने विक्रांत के पेट में अपने घुटनों से वार करते हुए कहा ज्यादा की मत झाड़ो वरना यही तुम्हारा शाहरुख खान बाहर निकाल दूंगी हम्म नहीं तो विक्रांत दर से चीख पड़ा अरे यार पेट पे मत मारो अभी खाना खाकर आया हूँ चुप करो नैना ने कहा और उसने अपना फोन बाहर निकालकर अमित को कॉल कर दिया उसने अमित से सख्त लहजे में बात करते हुए कहा हेलो अमित तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना अगर मैंने बाद में पुलिस स्टेशन में कुछ भी अफवाह सुन लिया ना नैना की आवाज सुनकर अमित के माथे पर पसीना आ गया नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा सच में माँ कसम मैडम मैं कुछ नहीं जानता मैंने कुछ नहीं देखा